तीन बार ओम का उच्चारण <clears throat> ओ के प्रश्नों के आधार पर जो जिज्ञासा समाधान चल रहा है उसमें एक विषय कई छोटे छोटे संबंधित प्रश्न हैं पहला तो इनका वाक्य है ईश्वर प्रकृति को प्रकृति का अर्थात सत्व रज तम इसको सत रज तम नहीं बोलते सत्व रजस तमस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण या सत्व रज तम ऐसा भी बोल देते हैं हिंदी में इनको अलग अलग अनुपात में मिलाकर सृष्टि का निर्माण करता है ठीक है सत्व रजतम यदि सब जगह एक ही अनुपात में मिले हुए हों तो फिर तो भिन्नता नहीं होनी चाहिए जैसे कि आटा घी और चीनी तीन चीजें हैं अगर सब जगह समान अनुपात में एक ही तरह बनाए तो एक ही मिठाई बनेगी लेकिन अलग अलग अनुपात में अलग अलग तरह से कुछ किया जाए अनुपात अलग हो तो अलग अलग चीजें बनती हैं तो ठीक है ये जो जितना कार्य जगत है इसमें सत्व रज तम का अनुपात भिन्न भिन्न है ऐसा ही बनाया ईश्वर ने अब आगे इनका प्रश्न है जैसे इतने सत्वरज तम से अग्नि और इतने सत्वरज तम से जल का निर्माण हुआ इतने मतलब जितने भी हैं वो हमें पता नहीं है अभी लेकिन जितने भी हैं ये निर्माण तो हो गया अब प्रश्न है कि लेकिन आग के ऊपर जल गिरने से आग बुझ जाती है <laughs> ठीक है बुझ जाती है लेकिन इससे आपका प्रश्न क्या है चूंकि अलग अलग अनुपात है यदि हम समान अनुपात कहते तब तो प्रश्न होता वे एक जैसे हैं तो कैसे बुझ रहे हैं लेकिन अलग अलग अनुपात है और अलग अलग अनुपात है तो अग्नि कुछ अलग चीज बनी है जल कुछ अलग बना है तो अग्नि पर जल गिरता है तो आग बुझ जाती है हुँ? तो अब इसमें प्रश्न क्या है आपका बुझ जाती है हम सबको पता है प्रश्न क्या है तो अब हाँ, वो आपके आगे की बातों में आएगा लेकिन यहाँ कोई तो कोई प्रश्न नहीं है ना वैसे अगर यू जानना चाहें कि पानी अग्नि पर डलने से अग्नि बुझ क्यों जाती है क्यों बुझ जाती है क्या कारण है ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है आग जलने के तीन कारण आग जलने के लिए तीन चीजें चाहिए उन तीन में से तीन के होने पे आग जलेगी इसमें से एक को भी समाप्त कर दिया जाए तो आग बुझ जाएगी पहला ईंधन वो कुछ भी हो सकता है लकड़ी केरोसिन पेट्रोल कागज कपड़ा जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये जलते हैं इनका गुण होता है या जो भी ईंधन फ्यूएल दूसरा ऑक्सीजन जैसा हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया होती है दो और तीसरा है तापमान ताप एक निश्चित ताप होगा तो आग जलेगी कम होगा तो नहीं जलेगी भले ही ईंधन भी हो और ऑक्सीजन भी हो ठंडा कर देंगे तो नहीं चलेगी ईंधन ऑक्सीजन यानी वायु और तीसरा तापमान टेम्परेचर इनका तीनों की उपस्थिति उचित तापमान होगा तो आग जलेगी नहीं तो बुझ जाएगी जी ट्राइंगल कहते हैं फायर ट्राइंगल देखो ये एक तो वो बोले भी थे ये तकनीकी शब्द बोले फायर का यानी अग्नि का ट्राइंगल होता है त्रिकोण होता है त्रिकोण होता है आपका विषय रहा है क्या ये सेफ्टी डिवाइस है हाँ नहीं बाद में भी है इनका यह कहना है कि भाई पहले ताप चाहिए पहले केवल ताप चाहिए बाद में नहीं उन्होंने कहा कि लेकिन बाद में भी ये फैक्टर काम करता है जैसे ताप चाहिए उसके लिए क्या माचिस से हम करते हैं आग जल जाती है जो जलने का ईंधन था यानी तीली और उसमें मसाला वो भी पहले से था और वातावरण में ऑक्सीजन भी पहले से थी लेकिन तीली रखी हुई है तो जलती नहीं है उसी पेटी में तो इतनी सारी तीलियां रखी रहती है और बाहर भी आप उसके यूं लगा दो तो जलती नहीं है कब जलती है घर्षण के बाद में जलती है क्यों क्योंकि जिस समय घर्षण होता है घर्षण से ताप बढ़ता है जैसे हम हाथ को रगड़ते हैं तो गर्मी आ जाती है जैसे चकमक पत्थर को यूं यूं करें तो गर्मी हो जाती है तो माचिस जब यूं करते हैं तो ताप बढ़ता है गति जो है घर्षण है गति है उससे ताप वहां पर बढ़ेगा और ताप के बढ़ने से बाकी वो मसाला वहां लगा हुआ है जो शीघ्र ज्वलनशील है ऑक्सीजन पहले से है एक की कमी थी वो हम पूरी कर देते हैं माचिस जला के और तीली जल जाती ऐसे ही जब आग बुझानी हो तो वहां पर भी इन तीन में से एक चीज हटा दो आप जैसे कि चूल्हे में आग जल रही और आपने लकड़ी खींच के बाहर कर दी अब क्या आग जलेगी गैस चल रही है और आपने गैस को ही बंद कर दिया यूं बटन को दबा दिया तो जो ईंधन का काम गैस कर रही थी ये लिक्विड एलपीजी गैस जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो भी ईंधन हो आपने बटन दबा के क्या किया वही तो बंद किया ऑक्सीजन भी है बाकी सब कुछ है कोई दिक्कत नहीं है और तो भी बंद हो जाती है अथवा जब हम आग लगती है तो किसी को आग लगती है तो कंबल से ढकते हैं एक प्रक्रिया होती है ना कंबल से ढकते हैं इत्यादि अथवा जब हम हवन कुंड में करते हैं और वहां संविधाएं ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी रख दी जाए अगर ऐसे तो आग बुझ सी जाती है या धुआं होने लगता है तो वहां क्या कारण बन जाता है ऑक्सीजन वायु का आवागमन नहीं होता और इसी तरह उसमें यजकुंड में जो छिद्र रखते हैं इधर उधर से थोड़े थोड़े छेद करते हैं ना उसका प्रयोजन है वायु आती जाती रहती है तो जब संविधाएं रख देते हैं तो ऑक्सीजन नहीं जाती है तो वो बंद हो जाती है कम हो जाती है तो धुआं हो जाएगा या वो जल नहीं पाएगी ढंग से और बिल्कुल बंद कर दो तो बंद हो जाएगी जैसे कि मोमबत्ती हो दीपक हो उसको गिलास से ढक दो बिल्कुल तो जब तक उसमें ऑक्सीजन है तब तक जलेगा और फिर अपने आप बुझ जाएगी जबकि ईंधन था वहां पर तापमान भी था लेकिन बुझ जाएगी अग्नि पे जो पानी डाला जाता है वो तापमान को न्यून करके अग्नि को समाप्त करता है ईंधन है ऑक्सीजन भी है लेकिन पानी डालने से वहां का तापमान हम एकदम से कम कर देते हैं तो जो तीन चीजें हैं अग्नि जलने में उसमें एक चीज पानी जाके वहां का तापमान कम कर देता है और इससे अग्नि बुझ जाती है आपका जो ये था कि अग्नि पे पानी डालने पे वो क्यों बुझ जाती है क्या विरोधी है और अग्नि पे पानी डालते हैं तो तापमान क्यों कम हो जाता है क्योंकि पानी ठंडा होता है और अगर गरम गरम पानी डाले तो, तो उबलता हुआ तो तो तो तो नहीं बुझेगी क्या बुझ जाती है तो पानी ठंडा था ये कारण नहीं है वहां पर अर्थात ये व्यविचार बता रहा हूं मैं आपको ऐसा कि हमारे मन में ऐसा एक प्रत्यक्ष से देख करके होता है कि भाई पानी ठंडा होता है अग्नि गर्म है क्योंकि पानी प्राय ठंडा होता है अग्नि से तो ठंडा ही होता है वो उसका शीतल गुण है वैशेषिक दर्शन ठीक है <laughs> सामान्य उसमें पर पानी का ये गुण है कि जब वो ताप के संपर्क में आता है कोई भी चीज तो पानी उस अग्नि को तापमान को लेगा तापमान को लेके भाप बन करके उड़ जाता है जब उसकी भाप बनती है उस भाप में बहुत सारी ऊष्मा काम में आ जाती है जो अग्नि जल रही थी कपड़ा लकड़ी कुछ भी उसका जो ताप था भाप बनाने में बहुत तेजी से खर्च हो जाता है पानी के डालने पे पानी गर्म होगा पहले तो पानी गर्म होगा तो भाप बनेगा और भाप बन करके भाप उड़ जाएगी दूर चली जाएगी तो पानी से भाप बनने की प्रक्रिया के लिए उष्मा चाहिए ताप चाहिए और वो ताप कहां से मिलेगा उसको वही जो जल रहा था उससे ईंधन से वहां से वो तापमान ले लेगा तो उसका तापमान कम हो जाएगा कम हो जाएगा तो पानी ऑक्सीजन को बंद करके भी अग्नि को समाप्त करता है जैसे लकड़ी जल रही है और पानी की बाल्टी है और आपने उसमें डाल दिया अंदर डाल दिया तो अंदर डाल दिया तब तो ऑक्सीजन भी वहां पर समाप्त कर दिया हमने एकदम से समाप्त हो जाएगा लेकिन वैसे भी जो हम डालते हैं उसमें एक कारण तापमान का कम होना है तो यद्यपि पानी भी सत्वर स्तंभ से बना है अग्नि भी सत्वर स्तंभ से बनी है मूलतः लेकिन इनके गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं और वो उसको बुझाती है ठीक है आगे जल और अग्नि का आपस में विरोध होना यह ज्ञान ईश्वर ने डाला के प्रकृति का ज्ञान है इसको ज्ञान शब्द मत बोलो आप तो ज्यादा ठीक है मतलब ये जो अग्नि अग्नि का बुझना है जल और अग्नि में परस्पर विरोध है यह ज्ञान ज्ञान नहीं ये प्रक्रिया ये स्थिति ऐसा होना ये ईश्वर ने उसमें प्रकृति में डाला या ये प्रकृति का ही है ये इनका प्रश्न अग्नि का जल से बुझना या यूं कहो अग्नि में जल को नहीं जल को ज, नहीं ज, जल में ठीक है जल में अग्नि को बुझाने का जो धर्म है जल में अग्नि को बुझा बुझाने का जो धर्म है गुण है विशेषता है ये प्रकृति की अपनी थी या परमात्मा ने इसमें डाली है ये इनका प्रश्न है तो ये धर्म इनका अपना है पर परमात्मा ने इनको इस स्थिति में बनाया इसलिए परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ये परमात्मा ने किया धर्म इन्हीं का ही है परमात्मा में अग्नि को बुझाने का धर्म हो और उसने अपने उस धर्म को अग्नि में जल में डाल दिया हो ऐसा नहीं है जैसे परमात्मा में आनंद गुण है वो हमें दे देता है तो परमात्मा में अग्नि को बुझाने का धर्म हो और उसने अपना ये धर्म जल में डाल दिया हो ऐसा नहीं तो उल्टा भी सोचेंगे कि परमात्मा में अग्नि तपाने वाला भी धर्म था और उसने अपने धर्म को अग्नि में डाल दिया ऐसा नहीं है अग्नि का भी जो धर्म है उसका अपना है जल का जो धर्म है वो उसका अपना है किंतु परमात्मा ने प्रकृति को इस तरह से बनाया कि वो अपने इस रूप में आ सके सत्वर स्तंभ अग्नि के रूप में आ सके सत्वर जल के रूप में आ सके ये अब ये मकान बना स्थूल उदाहरण ले लें ये सीमेंट और ये कंक्रीट और सरिये वरिये मिल करके और ये बन गया किसने बनाया ये मनुष्य ने मनुष्य के ज्ञान से बनाई है ये जो आपस में ये जो जुड़े हुए हैं पानी को रोक रखा है ये धर्म आपकी भाषा में कहूं तो ये ज्ञान अब आप ज्ञान नहीं बोलोगे ये धर्म मनुष्य का था या इन्हीं का था वस्तुओं का सीमेंट आदि का इस तरह का बन सकना पन इनका अपना धर्म था लेकिन जब ये अलग अलग पड़े हुए थे तो मकान के रूप में नहीं थे लेकिन मनुष्य ने इनको इस रूप में बना दिया तो ये धर्म प्रकट हो गए अभिव्यक्त हो गए बिल्कुल इसी तरह परमात्मा ने ऐसा किया जी हाँ ज्ञान शब्द नहीं बोले ज्ञान शब्द इन्होंने लिख दिया धर्म इनमें सीमेंट आदि में ऐसा बन सकने की सामर्थ्य अपनी है इनकी कोई कह नहीं जी सीमेंट भी तो ये जुड़ने लायक मनुष्य नहीं बनाया है भाई जिस पत्थर को लिया जो ऐसा बन सकता था वो बन सकता था तभी तो मनुष्य ने सीमेंट बना दिया फैक्ट्री में मिला जुला के जो भी किया हर किसी चीज से तो नहीं बना सकते थे ना निश्चित उपादान कारण लेके विशेष प्रक्रिया में डाल के तब बनाया बनाया तो मनुष्य ने लेकिन ऐसा हो सकने की सामर्थ्य तो उस पत्थर में थी या और जो जो चीज इसमें मिलाई जाती है उनकी अपनी सामर्थ्य थी वो ऐसा बन सकते थे इसलिए वो बन पाए प्रकृति में ये सामर्थ्य है ऐसा उसका स्वाभाविक धर्म है कि वो अग्नि के रूप में आ सकती है वो जल के रूप में आ सकती है परमात्मा ने वैसा बना दिया यहां तक हो गई बात बोलो जल का गुण संघनन हाँ पिंडीभूत करना है वो वैशेषिक में आया लेकिन थोड़ा प्रसंग उतना नहीं है तो आपका इनका ये कहना है कि जल में ये गुण है कि वो दूसरी वस्तुओं को पिंडीभूत कर देता है यानी पिंड बना देता है जैसे कि सीमेंट वाला हो गया अगर पानी नहीं डालते और सीमेंट और इन सबको यूं ही मिला देते तो होता क्या पानी के कारण हुआ ना अभी है क्या पानी इसमें था वो तो उड़ उड़ा गया तो जो मामूली होगा तो होगा लेकिन अब वो पानी नहीं है जिस जो पहले था वो तो निकल गया लेकिन पानी ने क्या काम किया ये इनको पिंडीभूत कर दिया ऐसे ही मिट्टी का है मिट्टी का डला है ईंट बनाते हैं दीपक बनाते हैं इन जो भी करते हैं तो उसको कहते हैं ठीक है वो वैशेषिक में भी आया है ये बात को इस बात को ये बात आई है आगे अब इनके प्रश्न इसी आधार पे हैं वो मेरे ख्याल से निवृत्त हो गए होंगे तो इनका था कि ये ईश्वर का धर्म ज्ञान है या तो प्रकृति का है और अगर ये स्वाभाविक गुण है तो क्या ईश्वर विकृति में भी स्वाभाविक गुण डाल देता है ये इनका स्वाभाविक गुण है जल और अग्नि का अपना स्वाभाविक गुण है तो विकृति में स्वाभाविक गुण डाल देता है डालता कुछ नहीं है परमात्मा इनमें परमात्मा से कुछ भी निकल करके इसमें नहीं आता है ठीक और यूं तर्क करेंगे हम तो परमात्मा से कुछ निकल करके आ भी नहीं सकता परमात्मा में कैसे करोगे कि यहां से निकल के <laughs> और यहां पर आ जाए वो सर्वव्यापक है तो उसमें कुछ इधर से उधर निकलना हो नहीं सकता कोई कहे कि नहीं जी परमात्मा सर्वव्यापक है लेकिन फिर भी उसका कोई गुण इधर से थोड़ा सा निकल के इधर थोड़ा ज्यादा हो जाए वो भी नहीं हो सकता वो तो एक रस है जहां जैसा है वो सब जगह वैसा ही है आप उसके किसी धर्म को यहां से निकाल के थोड़ा सा इधर कर दो विज्ञान गुण थोड़ा सा इकट्ठा करके इधर रख दो आनंद गुण थोड़ा सा इकट्ठा करके उसके उस कोने में रख दो ऐसा नहीं कर सकते एक रस है तो परमात्मा तो वैसा के वैसे है तो परमात्मा इनमें कोई भी गुण डाल नहीं सकता किस मेरी शब्दों पे ध्यान देना डाल नहीं सकता का मतलब अपने में से अपने किसी गुण को इसमें नहीं डाल सकता चेतनता डाल दे जान डाल दे आनंद डाल दे न्यायकारिता डाल दे दयालुता डाल दे ऐसा कुछ नहीं डाल सकता इनमें जड़ चीजों में लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा ने ही तो ये गुण डाले हैं इनमें कैसे इनका अपना स्वभाव ऐसा था सत्वरस्तम का परमात्मा ने उसको ऐसा बनाया कि ये इन इन गुणों वाले हो गए इस रूप में चित्रकार चित्रकारी करता है तो रंग बहुत ऐसे ऐसे होकर के बड़े सुंदर कोई चित्र बन गया अब ये सुंदरता या रंग बिरंगा जो भी है ये किसने डाला है उसमें यद्यपि चित्रकार ने डाला है लेकिन चित्रकार से कोई चीज निकल के तो वहां गई नहीं है चित्रकार ने केवल व्यवस्थित तो किया है रंगों को लेकिन जो दिखना है रंगों का वो उन रंगों का अपना था चित्रकार ने कोई गुण डाला है क्या चित्र के अंदर क्या डाला है सिवाय व्यवस्था करने के संयोजन करने के ये रंग यहां आएगा ये रंग यहां आएगा ये इतना गहरा होगा ये इतना हल्का होगा इस समायोजन ही तो किया है व्यूहन ही तो किया है उसने व्यवस्थित ही तो किया है रंगों को और कोई बनाएगा तो वो व्यवस्थित नहीं करेगा तो वो चित्रकार नहीं कहलाएगा वो सुंदर नहीं दिखेगा केवल रंगों को व्यवस्थित किया है चित्रकार ने कोई गुण तो नहीं डाला है उस चित्र में चित्र में जितने गुण हैं वो रंग के अपने गुण हैं ऐसे ही जितने भी गुण प्रकृति में हैं वो सारे के सारे गुण प्रकृति के अपने हैं परमात्मा ने उनको उस रूप में बना दिया है व्यवस्थित कर दिया तो अग्नि जल के जितने गुण हैं उनके अपने हैं तो अगर यह स्वाभाविक गुण है तो क्या ईश्वर विकृति में भी स्वाभाविक गुण डाल देता है तो हाँ ही हो गया ये तो क्योंकि स्वाभाविक गुण तो मूल पदार्थ का होता है मूल पदार्थ के भी स्वाभाविक धर्म होते हैं और जो विकृत पदार्थ है यानी निर्मित पदार्थ है उसके भी अपने कुछ स्वाभाविक धर्म होते हैं जल का अपना स्वभाव है अग्नि का अपना स्वभाव है वायु का अपना स्वभाव है यद्यपि इनमें जो ये स्वभाव आया है ये मूलतः सत्वर स्तंभ से आया है सत्वर में ये सामर्थ्य थी कि ऐसा ऐसा मिलने पर वो अग्नि बनेंगे वायु बनेंगे जल बनेंगे लेकिन इन निर्मित पदार्थों के भी अपने अपने स्वभाव कहे जाते हैं कहे जाएंगे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कह, कह सकते कि मूल पदार्थ में ही स्वाभाविक धर्म रहते हैं जो निर्मित पदार्थ हैं उसमें भी स्वाभाविक गुण रहते हैं लेकिन इनके प्रश्न के पीछे प्रश्न उठ उठा क्यों है क्यों उठ सकता है ये ये हम एक संबंध जोड़ के रखते हैं स्वभाव का मतलब होता है नित्य धर्म दो तरह के धर्म है आपने सुने होंगे यहां भी या पहले से भी एक स्वाभाविक धर्म होते हैं एक नैमित्तिक धर्म होते हैं किसी वस्तु के स्वाभाविक धर्म और नैमित्तिक धर्म स्वाभाविक धर्म के साथ हम क्या जोड़ते हैं कि वो नित्य होते हैं सदा रहते हैं स्वाभाविक धर्म और नैमित्तिक धर्म में क्या भिन्नता करेंगे कई के से भिन्नता कर सकते हैं लेकिन एक भिन्नता क्या की जाती है स्वाभाविक धर्म उस वस्तु में हमेशा रहता है और नैमित्तिक धर्म निमित्त से आता है निमित्त के हटने से हट जाता है यानी अनित्य होता है तो स्वाभाविक धर्म शब्द का प्रयोग करते हुए हम जाने अनजाने उसके साथ में नित्यता जोड़ देते हैं और नित्यता कार्य द्रव्य में रहेगी या मूल उपादान नित्य तत्व में रहेगी नित्यता नित्य वस्तु में रहेगी या अनित्य निर्मित वस्तुओं में रहेगी नित्यता नित्य वस्तु में ही रहेगी कार्य वस्तु में तो नित्यता कहां से रहेगी तो ये जब ये वाक्य लिख रहे हैं कि स्वाभाविक धर्म तो मूल वस्तु में ही रहता है उसके पीछे ये दिमाग काम कर रहा होगा इनका पता नहीं है इन्होंने सोचा या नहीं सोचा जाने अनजाने ये क्यों स्वाभाविक धर्म को मूल वस्तु के साथ ही जोड़ रहे हैं कार्य द्रव्य के साथ क्यों नहीं इनको स्वीकार्य हुआ क्योंकि स्वाभाविक धर्म के साथ हम नित्यता को भी जोड़ के रखते हैं और नित्यता कहां रहेगी मूल तत्व में ही रहेगी कार्य द्रव्य में तो नित्यता होगी नहीं ये भी इन्होंने सुन रखा है इसलिए ये प्रश्न है लेकिन स्वाभाविक धर्म का ये मतलब नहीं है कि वो नित्य रहता हूं महर्षि का सत्यात प्रकाश में वचन भी इस विषय में मेरे को जैसा ध्यान आ रहा होगा नित्य वस्तुओं के धर्म नित्य होते हैं नित्य वस्तुओं के स्वाभाविक धर्म नित्य होते हैं नित्य वस्तुओं के स्वाभाविक धर्म नित्य होते हैं और अनित्य वस्तुओं के स्वाभाविक धर्म अनित्य होते हैं अर्थात स्वाभाविक धर्म कहने से नित्यता उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती हो ऐसा नहीं कहेंगे जैसे वही जल और अग्नि का उदाहरण ही लूंगा आप बार आपने उसी को लिया जल और अग्नि अनित्य है नित्य नहीं है लेकिन जल का अपना स्वभाव है अग्नि का अपना स्वभाव है इसके लिए एक विशेष शब्द दर्शनों में प्रयोग किया जाता है अनित्य वस्तुओं का स्वाभाविक धर्म अनित्य होगा लेकिन उसको क्यों स्वभाव कह रहे हैं फिर जबकि हम नैमित्तिक धर्म उसको कहते हैं जो निमित्त से आता है और चला जाता है जो पूरा नहीं रहता तो जो स्वाभाविक धर्म जिसको हम स्वाभाविक कह रहे हैं जो अनित्य वस्तु में है तो उसको हम नैमित्तिक ही क्यों नहीं कह देते नैमित्तिक ही क्यों नहीं कह देते अनित्य ही क्यों नहीं कह देते जब वस्तु अनित्य है तो उसका धर्म स्वभाव भी उसको स्वभाव ही ना कहें हम स्वाभाविक धर्म ही ना कहें लेकिन वहां एक व्याख्या होती है एक शब्द आता है कि जो धर्म किसी वस्तु के रहने तक रहता हो जो धर्म किसी वस्तु के रहने तक रहता हो वो उसका स्वाभाविक धर्म कहा जा सकता है इसके लिए संस्कृत का शब्द है यावत द्रव्य भावी यावत माने जब तक द्रव्य यानी वो द्रव्य जिसका वो धर्म है गुण है उसके होने तक जब तक वो है जो धर्म यावत द्रव्य भावी होता है वो उसका स्वभाव कहना है मनुष्य में मनुष्यत्व गाय में गोत्व गाय में गायपना स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है किसी निमित्त से तो नहीं आया है स्वाभाविक है ना और गाय नित्य है अनित्य है अनित्य है तो अनित्य वस्तु में उसका धर्म गोत्व गायपना ये कब तक रहता है जब तक गाय है जब तक गाय है तब तक उसमें गायपना रहेगा ये कहते हैं यावत द्रव्य भावी तो जो धर्म उस वस्तु में बिना निमित्त के अपने में विद्यमान रहता है यावत द्रव्य भावी रहता है उसे उसका स्वाभाविक धर्म कहते हैं तो स्वभाव के साथ में नित्यता को नहीं जोड़ना है हमें इसलिए आपका ये जो बात है कि अगर वह यह स्वाभाविक गुण है तो क्या नहीं ये नहीं क्योंकि स्वाभाविक गुण तो मूल पदार्थ का होता है ये जो कथन है ना कि स्वाभाविक गुण तो मूल पदार्थ का होता है ये नहीं है स्वाभाविक धर्म निर्मित पदार्थ का भी होता है ये व्यवहार ऐसा होता है ठीक है बोलिए आपने कहा कि नित्य पदार्थों का धर्म नित्य रहता है नित्य पदार्थों नित्य होता है आत्मा नित्य है और उसकी इच्छा प्रयत्न इच्छा है अवस्था में नहीं रहते क्यों प्रलय अवस्था में भी रहते हैं <laughs> अनुभव हो या ना हो ठीक है ये प्रश्न अपने आप में एक स्वतंत्र विस्तार है उसको फिर मैं लेता हूं आपको ठीक है सिद्धांत वही है वस्तु के जो स्वाभाविक धर्म होते हैं वो उसमें रहते हैं विस्तार में बाद में करता हूं लेकिन मन में आपकी कुछ हलचल हो या औरों के हो तो के एक संक्षिप्त से उत्तर देता हूं केवल जो आपने कहा सुख दुख आत्मा का स्वाभाविक धर्म है ठीक है सुख को अनुभव करना दुख को अनुभव करना ये आत्मा का स्वाभाविक है दो वाक्य हैं एक है कि सुख और दुख आत्मा का स्वाभाविक है एक है सुख को अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है इच्छा और द्वेष करने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है वो आत्मा की सामर्थ्य सदा रहेगी प्रलय हो चाहे मुक्ति अवस्था हो और जीवित अवस्था में तो होता ही है वहां तो संदेह ही नहीं होगा पर सुख कब होता है दुख कब होता है प्रीति अप्रीति या इच्छा द्वेष कब होते हैं ये एक अलग विषय है ये विस्तार की अपेक्षा रखता है इतने मात्र से पूरा विषय नहीं संग्रहित होगा इसके लिए अलग से चर्चा करेंगे ये आगे लिखते हैं ये स्वयं भी वह वो कर रहे हैं या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है <laughs> तो कह रहे या फिर ऐसा होता है कि एक आप के लिखते हो के नहीं की रस्व या फिर ऐसा होता है कि अनुपात सत्वर स्तंभ बदलने से अलग अलग स्वाभाविक गुण पैदा होते हैं ठीक है ऐसा ही होता है अलग अलग अनुपात होने से अब देखो स्वाभाविक गुण पैदा होते हैं आप स्वयं भी स्वीकार कर गए परोक्ष रूप से आगे क्योंकि यह ज्ञान तो प्रकृति का है ज्ञान नहीं धर्म गुण ईश्वर ने तो उसे खोजा है खोजा नहीं <laughs> बनाया है <laughs> परमात्मा तो जानता था पहले से प्रकृति के क्या है उसने उसको बना के प्रस्तुत कर दिया है हमारे हित के लिए ईश्वर ने तो उसे खोजा है यह ज्ञान तो प्रकृति में विद्यमान है ये गुण धर्म तो प्रकृति में विद्यमान है ईश्वर ने तो बस दिखाया है इसे ये ठीक है ईश्वर ने हमारे को दिखाया इस रूप में प्रस्तुत कर दिया कि हम देख पाते हैं अग्नि क्या है और जल क्या है इनके क्या गुणधर्म है आगे और ईश्वर नियम के विरुद्ध कुछ नहीं बनाता बिल्कुल ठीक है जैसे इतने अनुपात सत्वर स्तंभ से जल बनता है इसके विरुद्ध ईश्वर भी नहीं कर सकता कि जितने सत्वर स्तंभ से ये चीजें बनती हैं उतने से ही बनेंगी ये प्रकृति का धर्म है कि इतनी इतनी मिलकर के ये बनेगी तो ईश्वर भी वैसा करेगा तभी बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी जो इन्होंने खुद ने भी लिखा है आगे जैसे इतने अनुपात चतुर स्तंभ से जल बनता है लेकिन ईश्वर इसी अनुपात में अग्नि बना दे <laughs> उतने ही सतर स्तंभ से वो जल की जगह अग्नि बना दे ईश्वर भी नहीं कर सकता महर्षि ने सत्या प्रकाश में लिखा भी है कि इसके प्रकृति के विरुद्ध ईश्वर भी नहीं कर सकता करता ही नहीं है वो कर भी नहीं सकता और ना वो करेगा कभी ऐसा ईश्वर करेगा नहीं बिल्कुल ठीक है क्योंकि यह नियम विरुद्ध है तो ईश्वर का अपना ज्ञान क्या है फिर <laughs> मतलब ईश्वर जैसे भी बना रहा है प्रकृति जैसी बन सकती है वैसी ही तो बनेगी फिर ईश्वर ने अपने ज्ञान से उसमें क्या कर दिया ईश्वर प्रकृति के गुण धर्मों को पूरी तरह जानता है जैसी प्रकृति है जैसे उसके गुणधर्म है ईश्वर उसको वैसा ही जानता है ठीक है अब ईश्वर की विशेषता यह है कि उसने जो उसके पास जो प्रकृति का ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करके प्रकृति को सत्वर स्तंभ को इस रूप में बना दिया ये परमात्मा का कर्तृत्व है प्रकृति जैसी है परमात्मा उसको वैसा ही जानता है सदा प्रकृति में इन चीजों के बनने के गुणधर्म है सामर्थ्य है लेकिन प्रकृति ऐसा बन नहीं सकती प्रकृति को खुद भी नहीं पता है कि मेरे में ये गुणधर्म हैं क्योंकि वो जड़ है चेतन नहीं है प्रकृति में ये सारे गुणधर्म हैं लेकिन उसे पता नहीं है कि मेरे में है और वो अपने आप इस रूप में आ नहीं सकते परमात्मा प्रकृति के गुण धर्मों को यथावत जानता है और वो उसे इस रूप में ये जान करके कि ऐसा ऐसा करने से ये होता है ऐसा ऐसा करने से ये होता है तो वैसा वैसा ही कर देता है और वैसी वैसी चीजें बना देता है जो चीज बनानी होती है उसका उपाय उसे पता है वैसा वैसा कर देता है वैसी वैसी चीज बन जाती है तो इसमें ये कोई बात नहीं हुई कि भाई ये गुण धर्म तो प्रकृति के हैं तो परमात्मा के क्या हुए परमात्मा का कर्तृत्व है परमात्मा उस ज्ञान का उपयोग करता है किसके लिए करना है उस जैसा बनाता है उनके लिए उपयोगी है तो उन जैसा बना देता है यही परमात्मा का कर्तृत्व है बस रुको रुको तो आपने जो कहा ना कि तो ईश्वर का अपना ज्ञान क्या है अपने ज्ञान से मतलब प्रकृति का जो ज्ञान परमात्मा के पास में है वो भी परमात्मा का ही है प्रकृति में ज्ञान थोड़ा ना था प्रकृति में तो गुण धर्म थे परमात्मा ने प्रकृति के गुण धर्मों को जाना तो जान किसका है ज्ञान तो परमात्मा का ही है तो परमात्मा में प्रकृति का ज्ञान है पर आप कहो कि नहीं ये तो प्रकृति का ज्ञान है शब्दों पे पकड़ लो तो परमात्मा के पास प्रकृति का ज्ञान है इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं <laughs> जैसे कि आपका धन है वो मेरे पास में है अभी धन तो आपका है आपका धन आपका वस्त्र आपकी वस्तु मेरे पास में है ऐसे प्रकृति का ज्ञान मेरे पास में ऐसा नहीं है वो प्रकृति के बारे में जानकारी जो प्रकृति में गुण धर्म है उसकी जानकारी परमात्मा को है वो परमात्मा के पास ही है वो प्रकृति से चल करके परमात्मा में नहीं आई है वो तो जानता ही है पहले से ठीक है तो परमात्मा में प्रकृति का ज्ञान है और परमात्मा में आत्मा का भी ज्ञान है तो परमात्मा आत्माओं को भी जानता है ऐसा ही जानता है यथावत जानता है और परमात्मा स्वयं अपने को भी जानता है तो आपकी भाषा में आप अगर यूं कहो तो परमात्मा में अपना ज्ञान है या नहीं है अपना मतलब परमात्मा का वो तो है उसको तो आप अपना कहोगे <laughs> या और किसी का कहोगे वस्तुतः परमात्मा में जो अपना ज्ञान है परमात्मा में जो प्रकृति का ज्ञान है परमात्मा में जो आत्मा का ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान परमात्मा का अपना है भाई अपने पराये का आप कथन कैसे करेंगे ये ज्ञान मेरा है और ये आपका है क्या किस आधार पर करते हैं निर्णय अपने पराये का ज्ञान कथन कैसे करते हैं जब चाहे उपयोग कर सकते हैं वो हमारा स्वामित्व है इसमें वो परमात्मा का ज्ञान अपना है ये ईश्वर जीव प्रकृति का जितना भी ज्ञान है तीन ही तो चीजें हैं और इनका पूरा पूरा ज्ञान परमात्मा के पास में है और ये सारा ज्ञान ईश्वर का अपना है ईश्वर ने किसी से उधार नहीं लिया है ईश्वर को किसी ने दिया नहीं है ये दूसरे ने दिया होता तो कहते हैं कि भाई ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो परमात्मा के पास ये ज्ञान सदा से है तो परमात्मा का अपना ज्ञान क्या है परमात्मा का अपना ज्ञान क्या है कहा विचारों में खोए हुए हो हैं कहा से आए कहीं से तो आने चाहिए कहीं से तो ठीक है क्योंकि कोई भी चीज हमारे पास में आती है वो कहीं से आती है व्यवहार तो हमारा ऐसा ही होता है ना तो वो ज्ञान परमात्मा के पास कहीं से नहीं आया अब वैसे तो ठीक है चलो हम हमारे पास भी सारी चीजें आती हैं हमारे पास हमेशा दूसरे से आती हैं मैं कोई लौकिक स्तर पर कोई यू पूछे आपसे मेरे से कोई पूछे भाई आपके बाल आप कहा से आए <laughs> तो भाई मैंने वीग लगा रखा हो तो ठीक है <laughs> कहीं से आएंगे लेकिन ये तो मेरे अपने हैं ये कहीं से नहीं आते ऐसे ज्ञान परमात्मा का अपना है वो कहीं से नहीं आता अच्छा आएगा तो कहां से आएगा कोई देने वाला नहीं है परमात्मा को ज्ञान कौन देगा प्रकृति में ज्ञान है नहीं जड़ है और आत्मा में और हमारे में कितना ज्ञान है ये हमारे को पता है कितना सा जानते हैं यदि परमात्मा के पास कहीं से आया भी हो किसी ने दिया हो तो किसने दिया होगा कोई दे ही नहीं सकता तो वेद ज्ञान भी परमात्मा का तो अपना है ये स्वाभाविक है उसका ईश्वर जीव प्रकृति का भी जो ज्ञान है वो सारा का सारा उसका स्वाभाविक है तो ये सारा ज्ञान परमात्मा का अपना चाहे ठीक है रुको इनका पूरा कर दू मैं आगे है लेकिन अगर आप यह कहते हो कि यह अनुपात इतना हो तो यह बने या इतना हो तो वो बने यह ज्ञान ही ईश्वर का है ऐस इतना मिलने पे ये बनता है इतना मिलने पे ये बनता है ये ज्ञान ईश्वर का है बात हो गई तो सवाल यह आता है कि <laughs> जब संसार में मनुष्य कुछ ऐसी वस्तुओं को बनाता है तो वेदानुकूल नहीं दिखते ये मैं आपसे समझूंगा आपका प्रश्न अभी मेरे को पूरा नहीं समझ में आया तो सवाल यह आता है कि जब संसार में मनुष्य कुछ ऐसी वस्तुओं को बनाता है जो वेदाकुल नहीं वेदानुकूल नहीं है विपरीत चीजें बना लेता है जो ठीक है या विरुद्ध दिखे तो यह क्यों कहते हैं कि यह प्रकृति संयोग से उत्पन्न हुआ ज्ञान है ईश्वर का नहीं है तो ऐसा कौन कहता है हाँ अच्छा तो यहां तो आप ज्ञान की ही बात कर रहे हैं गुण धर्म की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है इन ये थोड़ा सा आपका अलग प्रश्न है मैं जो ले लेता हूं इसको ये प्रश्न ये है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं कहते हैं कि ये जितना भी अच्छा ज्ञान है वो कहां से आता है परमात्मा से आता है हमारा तो अपना ज्ञान होता नहीं अच्छा जितना है वो सारा परमात्मा से आता है और जब कोई गलत काम करता है तो ये ज्ञान वो वहां भी तो कुछ ज्ञान काम कर रहा है भले ही वो मिथ्या ज्ञान है लेकिन ज्ञान तो है एक शुद्ध ज्ञान है एक मिथ्या ज्ञान <laughs> तो ये प्रश्न भी बहुत बनता है वैसे वो मिथ्या ज्ञान कहां से आया उसको तो हम कह देते हैं कि ये इनका अपना है और जो शुद्ध ज्ञान आता है उसको क्या देते हैं परमात्मा का नहीं नहीं ऐसा पूछते हैं ना ऐसा पूछते हैं हम इतने भक्त होते हैं कि जो भी अच्छा आता है वो तो परमात्मा का और जो बुरा आता है वो दुष्ट मनुष्यों का तो जो ज्ञान परमात्मा से आता है वो तो हमेशा शुद्ध ही होता है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सारा ज्ञान परमात्मा से ही आता है हमारे पास में आप में से कुछ को ये मेरा वाक्य अटपटा लगे तो क्षमा करना हर अच्छा ज्ञान परमात्मा से आता है एक तो ये वाक्य एक है कि परमात्मा की व्यवस्था से आता है ये दूसरी बात है अब मैं आपको देख रहा हूं आप मेरे को देख रहे हैं ज्ञान उत्पन्न हो रहा है आज ही हमने प्रत्यक्ष का सूत्र पढ़ा है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान परमात्मा से आता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं <laughs> क्यों जी उत्पन्नम ये लिखा है वहां पर इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान आता है नहीं उत्पन्न होते इंद्रिया इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्ष शब्दों पे ध्यान दीजिए ये हम भक्ति भाव में बोल देते हैं कि हर ज्ञान परमात्मा से आया ये ऐसा है नहीं मैंने दो वाक्य बोले थे दोनों में से एक बात तो घटेगी दूसरी नहीं एक वाक्य है जितना भी ज्ञान आया है और भक्त कहेंगे जितना भी अच्छा ज्ञान आया है वो परमात्मा से आया है तो स्वाभाविक है वो दूसरा प्रश्न उठेगा जो आपके मन में उठा है कि जो गलत ज्ञान आया है वो कहां से आया है तर्क ये कहेगा जब शुद्ध ज्ञान हम उत्पन्न नहीं कर सकते तो हम अशुद्ध ज्ञान कैसे उत्पन्न कर सकते हैं और यदि हम अशुद्ध ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं तो शुद्ध ज्ञान भी उत्पन्न कर सकते हैं ये अब तर्क से कर रहे हैं देखो ये तर्क ये कोई प्रमाण नहीं है जो मैंने बोला तो पीछे जो तर्क आया उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा ये जो ऊहा की जाती है ये कहलाता है तर्क इसको हम प्रमाण भी नहीं कह सकते और न प्रमाण से बाहर भी नहीं कह सकते एक मैंने ये कहा कि ये ज्ञान परमात्मा से आया एक है ये ज्ञान परमात्मा की व्यवस्था से आया अब जो इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हुआ ये परमात्मा से तो नहीं आया लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से आया है परमात्मा यदि ये व्यवस्था नहीं करता तो हमें ये ज्ञान नहीं होता ये नेत्र नहीं बनाता ये प्रकाश नहीं बनाता ये सारी प्रक्रिया नहीं होते रंग रूप नहीं होते तो हम जान ही नहीं सकते थे जो भी ज्ञान हो रहा है उसमें परमात्मा की परोक्ष सहायता मानी चाहिए लेकिन ये जो ज्ञान हुआ है इंद्रिया सन्निकर्ष से उत्पन्न होने से इंद्रिया सन्निकर्ष से ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है पहले नहीं था ठीक है बहुत सारा ज्ञान ईश्वर से और ईश्वर की दिए हुए वेद से और फिर महापुरुषों से माता पिता से परंपरा से भी प्राप्त होता है लेकिन हर ज्ञान ऐसे ही परंपरा से ही आए और कोई नई खोज मनुष्य ना करता हो नया ना जानता हो ऐसा नहीं है मनुष्य नई चीजें भी जानता है नई का मतलब ऐसी नहीं कि परमात्मा उसको नहीं जानता है परमात्मा के पास तो सारा ज्ञान है लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने ऐसी बुद्धि ऐसी इंद्रियां दी हैं कि वो ज्ञान प्राप्त करता है नया ज्ञान प्राप्त करता है जो कि परमात्मा ने दिया नहीं होता है ऐसे कि जैसे रोटी दे दी या धन दे दिया ऐसे नहीं दिया है परमात्मा ने अब आपके उस प्रश्न का उत्तर आएगा इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से बुद्धि का उपयोग करके मनुष्य या प्राणी ज्ञान को उत्पन्न करता है ज्ञान को उत्पन्न करना यदि हमने स्वीकार कर लिया तो अब ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है तो जो मिथ्या ज्ञान जो उल्टा ज्ञान आता है मनुष्य करता है वो अपने बुद्धि इंद्रियों के दुरुपयोग से गलत उपयोग से या तो ठीक उपयोग न करने से उत्पन्न करता है परमात्मा नहीं देता उसको ये उल्टा ज्ञान न तो आत्मा का स्वाभाविक है और न ये प्रकृति का है प्रकृति तो जड़ है ये जो उल्टा ज्ञान है परमात्मा का हो नहीं सकता परमात्मा उल्टा ज्ञान देगा भी नहीं आत्मा का स्वाभाविक धर्म ये है नहीं और प्रकृति जड़ है उसमें ये रह नहीं सकता प्रकृति दे नहीं सकती ये मिथ्या ज्ञान भी उत्पन्न होता है इंद्रियों का बुद्धि का गलत उपयोग करने से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होगा जैसे कि शुद्ध ज्ञान भी उत्पन्न होता है ऐसे मिथ्या ज्ञान भी उत्पन्न होता है जब हम इस ढंग से व्यवस्था देखते हैं तो अब वो प्रश्न ही नहीं रहेगा कि ये मिथ्या ज्ञान आया कहां से आया तो ऐसे आया नहीं तो हम अति भक्ति में जब ये कहने लग जाते हैं जितना भी ज्ञान है वो सब परमात्मा का है और जितना भी ज्ञान हमारे पास आया है वो परमात्मा के पास से ही आया है तो फिर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ सकता कि मिथ्या ज्ञान फिर कहां से आया है ये प्रश्न खड़ा रहेगा फिर या तो यूं कहते हैं कि नहीं मिथ्या ज्ञान तो मनुष्य का अपना है और शुद्ध ज्ञान परमात्मा से आया है या तो ये कह के संतोष कर लेते हैं भक्त लोग ऐसा कर लेते हैं और या यूं कहते हैं कि नहीं मिथ्या ज्ञान प्रकृति का है और शुद्ध ज्ञान परमात्मा का है ये मानना पड़ेगा उनको कि ज्ञान गुण प्रकृति का है वो भी उस तरह संतोष कर लेते हैं लेकिन ये फिर गलत हो जाता है तो मेरी दृष्टि से मैं जैसा समझ पाया उसमें कोई और त्रुटि हो या कुछ संशोधन अपेक्षित हो आप लोग का भी स्वागत है उसमें पर ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान का आदि कारण परमात्मा है इसमें कोई दो राय नहीं है परमात्मा की दी हुई व्यवस्थाओं में हमें ज्ञान होता है उत्पन्न हम करते हैं प्राप्त करते हैं और हमें जो ज्ञान होता है वो कोई हमारा नया ज्ञान नहीं होता वस्तुओं का परमात्मा उन ज्ञानों को पहले से जानता भी है वो भी हमारे प्रेरणा से हमारे मस्तिष्क में ज्ञान को दे सकता है और हम भी इंद्रियों के सन्निकट से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा ने दोनों व्यवस्थाएं हमारे लिए दी ठीक है मिड हो गया आपका सारा सारा का सारा हो गया इसको कल के लिए स्थगित कर दें तो आप लोगों के अगर अधिक प्रश्न है इस विषय में तो ठीक है और कर लेंगे इस पर एक दिन और चर्चा कर लेंगे विस्तार हो गया और अति संक्षेप से थोड़े से हैं तो अभी भी कर, कर लेंगे बाद में मिला ऐसा नहीं एक ही बात है लेकिन बहुत उनके अलग होने से भी अलग नहीं रुकिए रुकिए रुकिए रुकिए इनका ये कहना है कि सतुर स्तंभ के भिन्न भिन्न अनुपात नहीं है अनुपात तो समान है लेकिन उनके बॉन्ड संबंध अलग अलग हैं ये आपने कथन किया उदाहरण मत दो ज्यादा उसको फिर वो और उलझ जाएगी बात वो सुक्रोज और ये सब समझ ही नहीं पाएंगे क्या है परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होता है संबंध होता है तो वो अलग अलग है ये यूं कह रहे हैं हीरा और कोयला कार्बन है लेकिन वैसे अलग अलग है बहुत अंतर है गुण धर्मों में होता है लेकिन आप अनुपात की भिन्नता को नकार नहीं सकते वो भी है लेकिन आपका कथन किस तरह का था कि नहीं अनुपात की भिन्नता नहीं होती है बॉन्ड की भिन्नता होती है बॉन्ड की भी भिन्नता होती है मान लिया लेकिन अनुपात की भिन्नता भी रहती है वो भी माननी पड़ती है ठीक है उसके लिए इसमें सुश्रुत संहिता के अंदर एक प्रसंग आता है प्रकृति के ये गुण कैसे होते हैं उन्होंने कहा कि परस्पर संसर्गात परस्परानुग्रहात परस्परानुप्रवेशाच तीन बातें कही ये जो सत्वरस्तम और परमाणु है वो एक दूसरे का अनुग्रह करते हैं परस्पर संसर्गात उनका परस्पर संसर्ग होता है अलग अलग ढंग से परस्पर एक दूसरे का अनुग्रह करते हैं हित करते हैं और परस्पर अनुप्रवेशाच एक दूसरे में प्रविष्ट भी करते हैं आज की भाषा में कहो तो इलेक्ट्रॉन को लेते देते और बॉन्ड बनाते हैं इधर से उधर ये तीन शब्द दिए हैं सुश्रुत संहिता में सर्वेशु सर्वेशम सानिध्यम अस्थि इन सब में सबका सानिध्य है मतलब सत्वरस्तम इन सब में है ये रासायनिक प्रक्रिया आपस की कैसे कैसे है भौतिक प्रक्रिया ये होती है लेकिन अनुपात की भिन्नता भी मानेंगे इसको बहुत विस्तार से हम नहीं जा रहे इन्होंने अनुपात की भिन्नता करके कहा और उतने तक किया बाकी विषय वैशेषिक का विस्तार से बनेगा शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान सब ईश्वर से ही साक्षात मिलता है ऐसा मुझे तो स्वीकार्य नहीं होता क्योंकि ये प्रत्यक्ष ये कथन प्रत्यक्ष के विपरीत है और किसी ऋषि का वचन भी मेरे को ध्यान नहीं आता कि सारा ज्ञान ईश्वर से ही आया है ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है कोई दो राय नहीं है इससे इसका खंडन नहीं होता है सब सत्य विद्याओं का आदि मूल आदि मूल परमात्मा है महसी ये नहीं कह रहे हैं कि महसी का कोई ऐसा वाक्य है क्या कि जब जब हमको जो जो ज्ञान होता है वो सब परमात्मा देता है सीधे सीधे कोई एक वचन है आपके पास में कोई एक शब्द प्रमाण है इस तरह के जो कथन किए जाते हैं वो अतिरेक में कर किए जाते हैं श्रद्धा या भक्ति के अतिरेक में परमात्मा को अतिरंजित करने के लिए क्योंकि परमात्मा के प्रति बहुत भक्तिभाव हो जाता है तो जैसे पौराणिक लोग भी कर देते हैं अति कर देते हैं परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता वो तो महिमा ही गा रहा है परमात्मा की लेकिन सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा ऐसे ही जब हम भावातिरेक में होते हैं तो विवेक कहीं छूट जाता है सिद्धांत कहीं छूट जाता है भक्ति अधिक आ जाती है कोई शब्द प्रमाण हो आप लोग बताइए ढूंढिएगा कोई मिल जाए शब्द प्रमाण मिल गया मैं उसी समय स्वीकार कर लूंगा और ज्ञान उत्पन्न होता है उसका एक प्रमाण तो मैंने ही दे दिया और इसके दसियों प्रमाण और महर्षि के बीसियों वाक्य ऐसे मिल जाएंगे व्यवहार भानु से लेकर के वेद भाष्य तक कहीं भी इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या वाक्य शेष क्या पूरा करेंगे भवती उत्पद्यते व इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात अविद्या क्रियापद क्या लोगे क्रियापद कुछ तो लोगे होती है भवती मतलब भी वहां पर उत्पद्यते ही आएगा इंद्रिय दोष से और संस्कार दोष से अविद्या उत्पन्न होती है तो ज्ञान अज्ञान उत्पन्न होता है जैसे जैसे हम जानते हैं मैं जैसे बोलता जा रहा हूं आप सुनते जा रहे हैं आप में जो गतिविधि है आपका जो प्रश्न मैं जान रहा हूं ये जो ज्ञान है ये अभी उत्पन्न हो रहा है हाँ ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है ईश्वर के दिए हुए साधनों से हो रहा है उतनी कृपा हम उसकी मानते ही हैं लेकिन ये सब ज्ञान ईश्वर दे रहा है ये नहीं हाँ अंदर से जो ज्ञान देगा और सृष्टि के आदि में जो ज्ञान दिया बीच में भी ज्ञान देता रहेगा वो ईश्वर अवश्य देता है यहां हमें कुछ विभाजन करना होगा ऐसा आप लोगों मेरे को तो हो जाता है कुछ युवाओं को भी हो जाता है लेकिन मैं सोचता हूं कि सबको समय हो जाता है वैसे हमारा समय तो साढ़े आठ तक का है उसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आप लोग भी रुचि ले लेते हैं पूछिए आपके कुछ स्टेटमेंट से ऐसा हुआ कि ईश्वर के सामर्थ्य में कुछ लिमिटेशन हैं है ठीक है लेकिन इससे ईश्वर की निंदा नहीं है नहीं, नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग सही है जैसे कि हम हर समाज में बहुत बोलते रहते हैं ईश्वर चोरी नहीं कर सकता नहीं कर सकता ऐसे पहाड़ को नहीं बना सकता जिसको वो ना उठा सके इत्यादि जो बातें हैं तो वो अधर्म का समर्थन नहीं कर सकता वो प्रकृति से विपरीत जो इन्होंने कहा कि जिन जिस जितने अनुपात में अग्नि बनाता है उतने ही अनुपात से पानी भी बनाते ये परमात्मा भी नहीं कर सकता लिमिटेशन शब्द एक निंदित अर्थ में भी है आप उस तरह ना लीजिए उसको लेकिन इतना आवश्यक कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है कुछ भी कर सकता है ऐसा जो पौराणिक या अति भक्त लोग ईश्वर के बारे में कह देते हैं परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है वो खुद को भी मार सकता है वो एक देशी भी बन सकता है एक देशी नहीं बन सकता ईश्वर अपने नियमों को भी तोड़ सकता है नहीं तोड़ सकता ये उसकी लिमिट सीमा या न्यूनता का द्योतक नहीं है ये उसके महत्व का द्योतक है कि वो इन नियमों पे खुद चलता है कभी तोड़ता नहीं है ये उसका ईश्वरत्व है ये उसकी महत्ता है लिमिटेशन या सीमित करना या न्यून करना नहीं कहेंगे उस अर्थ में नहीं लेना मेरी बात को शाब्दिक रूप से आप कहेंगे तो मैं कह रहा हूं कि सीमित किया और सीमित तो करना पड़ेगा नहीं तो वो हम इतना विस्तार कर देंगे कि वो अंधविश्वास आ जाएगा सिद्धांत विरुद्ध बातें आ जाती हैं ये परमात्मा की महत्ता है ये हमारे लिए हमारे लिए इन्होंने एक बात कही एक दार्शनिक बात कही कि लिमिट का ज्ञान होना भी एक बड़ी बात है यानी मैं थोड़ा सा जानता हूं ये ज्ञान हो जाना भी बड़ी बात है थोड़ा सा सीमा जो सीमित होता है उसके साथ में ये बात भी जुड़ जाती है मैं इसलिए अगर उनका वो अर्थ है तो वो मेरा अभिप्राय नहीं है थोड़ा हो सकता है थोड़ा नहीं <laughs> उसका क्या मतलब होगा इसका क्या मतलब होगा ये एक प्रतीक मेरे हाथ की मुद्रा है चलो मैं इतना करूं तो ठीक है इतना करो लेकिन परमात्मा की इससे कोई लिमिट नहीं की जा रही कोई सीमा नहीं बांधी जा रही इससे लिमिट का मतलब निंदा अर्थ में है कि वो उसको कम नहीं किया जा रहा है इतना मैं इतना ही कह रहा हूं उन्होंने कोई संकेत नहीं किया था मे, मेरे हाथों में हो गया हो तो उसके लिए क्षमा से तो आप मेरा समर्थन कर रहे हैं नहीं मेरी कम है जी इसलिए मैंने इंग्लिश का जी लिमिट मतलब सीमित होता है लेकिन मेरे को अगर कोई गलत अर्थ ले रहा हो वो ना आ जाए मेरे कथन का और मैंने हाँ भी किया हाँ मैं कह रहा हूं कि लिमिट है तो अब ये जो मैं कह रहा हूं कि परमात्मा की लिमिट है उसका कोई भिन्न अर्थ ना ले ले उसके स्पष्टीकरण के लिए मैंने ये बात रखी बाकी वो जो अनंत है अनंत गुण धर्म स्वभाव है वो सबको स्वीकार है प्रणाम जीवा है इनकी सीमा प्रकृति और आत्मा की जो सीमित हैं उनको सीमित रूप में परमात्मा जानता है और स्वयं अनंत है तो स्वयं को अनंत रूप में जानता है इत्यादि मंत्र पाठ करेंगे सूचना भी है